और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी से निकाह करना चाहते हो और उनमें से एक को ढेर सारा मेहर दे चुके हो तो उसमें से कुछ वापस न लो क्या तुम बोहतान लगाकर और खुला गुनाह करके मेहर वापस लोगे